बीसवा मंत्र एक चलेगा हम्म। कि मयम एकांत तो निश्चेष साधनात्म ज्ञानारो न वेत्ते परीक्षणार्थम आह किम अयम ये सामने नचिकेता यमराज के सामने यमराज सोते अयम एकांत तो निश्चय साधन आत्मज्ञान आरो नवा निश्रेयस है निश्चितम श्रेय निश्रेयस निश्रेयसम अचतुर विचतुर सूत्र से अप्रतिभा निश्चितम श्रेय श्रेय तो कुछ है कल्याण थोड़ा सा निश्चितम श्रेय मुख्य ही है आत्मज्ञान उसका साधन है निश्रेयस का साधन मोक्ष का साधन क्या है क्या है आत्मज्ञान निश्चेष साधन जो आत्मज्ञान वो आत्मज्ञान के लिए अर्ह आत्मज्ञान आत्मज्ञानाय अर्ह योग्य आत्मज्ञान के लिए योग्य है अथवा नहीं और बीच में रहा एकांतत अत्यंत अतिशयन आत्मज्ञान का मोक्ष का साधन आत्मज्ञान के लिए अत्यंत योग्य है अथवा नहीं अत्यंत योग्य हो तो उपदेश करने से शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है योग्यता अधिक होने पर ज्ञान नहीं होने के कारण योग्यता में कमती है वासना है दुराग्रह है प्रतिबंधक है पाप तो यह मुख्य साधन आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए वर रूप से मांगा तो उसको देना चाहिए योग्यता हो तो अयोग्य हो तो देने से ही कुछ लाभ नहीं होगा इसलिए परीक्षणार्थम यज्ञ है अथवा नहीं इसकी परीक्षा के लिए यमराज ने कहा देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय मनुरेश धर्मः अन्यं वरं न चिकेतो वृणीस्व मामो पुरोत्सिरतिमासृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा विचिकित्साय संदेह पूरा पहले सबको देवताओं के वे भी इस विषय में संदेह है अत्र अस्मिन विषय जिस विषय में तुम प्रश्न आत्म विषय में प्रश्न करते हो पहले सृष्टि काल में पूरा का अर्थ पूर्व पूर्व का अर्थ सृष्टि काल में देवताओं के भी प्रथम ये संशय हुआ था विचिकित्सितम क्यों संशय होता उसका कारण क्यों नहीं सुविज्ञेयम क्योंकि सुविज्ञ सुष्ट विज्ञ सरल से ज्ञान नहीं होता है श्रवण करने पर भी ज्ञान होता है ऐसा नहीं है क्योंकि अनुरेश धर्म यह धर्म शब्द से आत्म नाम को आत्मा को भी धर्म शब्द से कहा अनुरेश धर्मेश धर्म अनु अत्यंत सूक्ष्म है ये आत्मा ही धर्म अणु है अत्यंत सूक्ष्म इसलिए तुम अन्यम वर नचिकेतो वृणीसो हे नचिकेत तुम अन्य वर मांग लो मां मो अति मास जैनन मां मां उपरसी मां मां उपरसी मां का तो मां मुझे मां उपरोसी रोकना नहीं रोको एक मां तो माम और एक मां न मां उपरोसी का था तो उपरोध रुकना निर्बंध आग्रह नहीं करो उपरोध करना रोकना आग्रह नहीं इसको देना है कोई धन ऋण लिया है जो ऋण ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं अधमर्ण ऋण देने वाला होता है उत्तमर्ण ऋण देने वाला ऋण लेने वाले को मध्य में पकड़ता है देव मेरा मैं दूंगा बाद में नहीं आज देना है अभी दो छोड़ेंगे नहीं तो बलवान होने पर भी ऋण ग्रहण किया तो डर जाता है तो कहिए ना यमराज कहते ये मैं तुमको वर देने ने कहा तो मैं तो ऋणी हो गया ना जब तो वर नहीं दे पहले आया ऋणी जैसे ऋण देने वाले अधर्मन को आग्रह करके तो नहीं तुमको देना पड़ेगा रास्ता भू रोक देता है इसी प्रकार मुझे नहीं करो यमराज कहते वो तो, छोटे बच्चे पिता माता दादा दादी आते हैं रास्ता में खड़े करके तो छोड़ूंगा नहीं रास्ता रोक देता है ऐसा करके छोटे बच्चा कोई दादा बोलते थोड़ा रास्ता छोड़ दो पैर हमारा दर्द हो गया कितने देर खड़े रहेंगे छोड़ दो रास्ता छोड़ दो नहीं छोड़ूंगा फिर ये बोलते हैं तो अरे दर्द बहुत दर्द हो गया पैर में छोड़ो फिर उसको दया आ जाती है <laughs> सचमुच दर्द हो गया फिर थोड़ा छोड़ देता है यमराज कहते हैं यह आग्रह नहीं करो इसको ले माम ऊपर माम ऊपर से माँ से जाए ना इसको छोड़ दो रोको नहीं जैसे धन देने वाला रुकता है ऐसा नहीं करो इसको छोड़ो और दूसरा कुछ मांग लो अन्य वर्ण नचिकेत मुनीश्व देवेर अत्र देवेरपि अत्र देवे अत्रापि देवेर अत्रापि तो अपि का देवे के साथ संबंध है ना देवेर अत्र देवताओं के भी अत्र विचिकित्सितम अत्र का तस्मिन विषय एतस्मिन वस्तुनि इस वस्तु में आत्म तत्व में जिस वस्तु का तुम प्रश्न करते हो देवताओं का भी संदेह था विचिकित्सितम संशयितम देवताओं भी संशय था संशय करके बहु संशय होने से अभी बहु विचार पहले था मतलब पहले संशय हुआ फिर संशय निवृत्ति विचार करना करने पर उनको हुआ पहले था मतलब बाद में नहीं था पहले भी उनको संशय था अतः संशय था तो फिर विचार टिप्पणी दिया है संशय फलावसानम विचारितम इति भाव पहले संशय था मतलब संशय करके फिर ज्ञान निश्चय होने तक विचार किया देवताओं ने पूरा का तो पहले पहले का तो सृष्टि काल में पूर्वम सृष्टि के पहले देवताओं को भी संशय था क्योंकि नहीं सुविज्ञेय सृष्टि विज्ञेयम सुविज्ञेयम ज्ञेय तो होता है सामान्य रूप से विज्ञेय होता है विशेष ज्ञान और विशेष ज्ञान होने पर भी सुष्टु संशय विपर रहित एकदम ज्ञान नहीं होता है ये क्योंकि ये सूक्ष्म है श्रुतम श्रवण करने पर भी ये सुविज्ञ नहीं होता है मैं बोलूँ तो कुछ लाभ नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा प्राकृतिर जनेर जब प्राकृत मनुष्य उनको ज्ञान नहीं होता है प्राकृत प्रकृतो भव प्राकृत स्वभाव से जैसे शास्त्र संस्कार रहित तो, स्वभाव तो सांसारिक वस्तु पामर कत नीच विषय चिंतन करने वाले विषयाभिमुख उनको इसे श्रुतमपि स्वविज्ञान न भवति जानेरि श्रवण करने पर भी सामान्य लोग इसको नहीं जान पाते प्रकृति के वश में है वही भोजन खाने पीना कर मरना यही जिनका है वासना युक्त है श्रवण करने पर भी ज्ञान नहीं होता है क्यों नहीं होता उसका है तो अणुरेश धर्म अणु का तो सूक्ष्म सूक्ष्म का तो परिमाण से छोटा ऐसा नहीं है यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने से किसके साथ लिप्त नहीं होता है सर्वत्र अवस्थित देह तथा आत्मा नोपलिप्यते आकाश सर्वगत कह करके उसको सूक्ष्म कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने से किससे लिप्त नहीं होता है जो सर्वगत आकाश वो अनुपरिमाण है क्या सूक्ष्म का आते स्थूल नहीं इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं होता है रूप नहीं ऐसे कोई गुण विशेष नहीं होने से पृथ्वी जल आदि में जैसे पकड़ में नहीं आता ये सूक्ष्म है उसको ले नहीं सकते उठा नहीं सकते काट नहीं सकते तोड़ नहीं सकते जला नहीं सकते ये सूक्ष्म है मिट्टी पत्थर को पत्थर को भी तोड़ देते हैं लोहा को भी तोड़ देते हैं किंतु ये आकाश को कोई तोड़ना ले करना उठाना कुछ नहीं कर सकते ये सूक्ष्म है इंद्रिय का विषय नहीं पकड़ में नहीं आता अत्यंत सूक्ष्म है दिखता नहीं सामने घटपटा पदार्थ है दिखता है बता दिया तो ग्रहण हो जाता है ये अत्यंत सूक्ष्म होने से कहने पर भी सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते हैं ऐसा धर्म धर्म का आत्मा क्यों धर्म आत्मा है नाम जिसका धर्म का धर्म कहा इसको धरती थी धर्म जो धारण करता है सबको सारे जगत को धारण करने वाला सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है धरती अधिष्ठान ही सबको धारण करता है सर्वाधिष्ठान सब का अधिष्ठान आत्मा होने से वो धरती थी धर्म करके कर्तरी करने तो धर्म तिथि धर्म करेंगे तो धर्म धारण किया जाता है वो धर्म पुण्य पाप भी हो जाएगा धरती धर्म धर्म पुण्य पाप भी जगत को धारण करता है पुण्य पाप से जगत रहता है पुण्य पाप प्राणियों के अदृष्ट से जगत की उत्पत्ति होती है तो धारण करने वाला धर्म जो होता है पुण्य पाप केवल पुण्य पाप जड़ धारण नहीं करेगा गौण प्रयोग है धर्म धारण करता है तो ईश्वर धर्म के द्वारा जगत को धारण करते धर्म होता है निमित्त और धरते धर्म कहें तो सर्वाधिष्ठान वही सबका अधिष्ठान उनसे सबका धारण करता है आत्मा के धर्म अनुरेष धर्म आत्मा के लिए कहा अतो अन्यम असंतिकत फलम वरम नचिकेतो वृणिष्यो इसलिए अन्य कोई वर मांगो अन्यम वरम असंतिकत फलम असंतिकतम फलम जिसका फल संदिग्ध नहीं हो सरल से ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा जो वर है उसका फल तो आत्मज्ञान है संदिग्धम क्योंकि आत्मा का ज्ञान सरल से नहीं होता है उपदेश करने पर ज्ञान होगा नहीं होगा इसका फल क्या है इसे निश्चित फल उसे ज्ञान से कुछ क्या होगा इसे जान जान करके जिसका फल निश्चित है करने पर कुछ फल मिलेगा हाँ, तुमने अग्नि विद्या का प्रश्न किया करने पर स्वर्ग मिलेगा वो तो ठीक है अरे आत्मा विषय सुनने से क्या मिलेगा क्या फल है उसे क्या लाभ है इसलिए असंदिग्धम फलम यस्य ऐसा कोई वर मांगो जिसका निश्चय फल है उपदेश करने से प्राप्त होगा कोई फल ऐसे मां बुरन मांग लो मां का था मां मां सिर उपरोध मां का सी मुझे उपरोध रुकना निर्बंध रुकना आग्रह नहीं करो इसको दो यही दो हम वही दो ऐसे जो नहीं करो बच्चे जैसे आग्रह करते हैं उपरोध महाकर्षी उपरोध कैसे कौन करता है निर्बंध आग्रह अधमर्णमेव उत्तमर्णः उत्तम ऋणो ऐसे से उत्तम ऋण में उत्तम होता है देने वाला और अधम होता है लेने वाला ऋण का संबंध तो दोनों के साथ है दाता और ग्रहीता ऋण देने वाला उत्तम होता है लेने वाला अधर्म अधम होता है निकृष्ट होता है जब उत्तम कहेगा मेरे धन दे दो तो अधमन डर जाता है उत्तमन अधमन को रोकता है दो मेरा ऋण अभी दो तो हाथ जोड़ता है अधमन इसी प्रकार मैं अधमन तुम उत्तमन मैं वर देने के लिए कहा मतलब वर नहीं देते तो ऋण हूं मैं अधमन तुम उत्तमन आ उत्तमन जिस अधमन को रोकता है तुम ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करना अन्य वर मांग लो यह अभिप्राय है टिप्पणी में दिया अनेन अहम अधवर्णस त्वं च उत्तमनिति त्वया तथैव उपरत कर्तव्यो कहता इसका अभिप्राय है तुम उत्तमन हो मैं अधमन हूँ वो उसको रोकता है इसी प्रकार उसका अभिप्राय ऐसे रोकोगे तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा <laughs> तो छोड़ दो छोड़ दो कहीं छोड़ दिया दूसरे मांग लो टिप्पणी में दिया है न अन्यथा अयम वरो लभ्यति निगूढ़तम सूचयति गुढ़ अत्यंत है ऐसा रोको नहीं मंत्र रोकने का तुम्हारा अधिकार है किंतु ऐसा रोको नहीं छोड़ दो प्रार्थना करते यमराज जी इसको छोड़ दो दूसरे मांग लो अतिसृज एनम अतिसृज सृज एनम अतिमा सृज एनम अतिमा सृज अति का सृज के साथ माम एनम अतिसृज मुझे इसको छोड़ दो अतिशय अभिमन चयनम इसी वर को छोड़ दो मां मां प्रति मेरे प्रति जो तुम्हारा आग्रह है जैसे उत्तमन अधमन को रुखता है इसी प्रकार अधमम ऋणम अस्य इति अधमरण निर्बंध आग्रह नहीं करो इसको छोड़ दो मुझे हां हम्म? हाँ ऋण अधम अधर्म है अधमम ऋणम संबंधी अस्य अधमम ऋणम ऋण जिसका निकृष्ट है ऋण के कारण स्वयं अधम हो जाता है जो ऋण अधम है अधम ऋण के साधम अधम होता है तो विग्रह अधमम ऋणम अस्य ऋण जिसका निकृष्ट जिसको अधम बना देता है ऋण इसके संबंधी अधम इस कार्य से स्वयं अधम हो जाता है ये किस मंत्र पूरा वाटिका नहीं एवं उक्त नचिकेता ऐसे उक्त नचिकेता यमराज के द्वारा जो कहा गया उत्तर देता है देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योयन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य न लभ्यो वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल अत्र देवीरपि विचिकित्सितम किर ये तो आपने कहा अत्र इस आत्म तत्व में देवताओं को भी संदेह हुआ था देवताओं को भी संदेह था तो ये ऐसी विषय है त्वं च मृत्यु यन्न सुविज्ञे मात और आप ही कहते ये सुविज्ञ नहीं होता है देवताओं संदेह था सुविज्ञ नहीं होता है तो वक्ता चास्य त्वादृक अन्यो न लभ्यो येयम प्रेते विचिकित्सा अस्ति चे के नास्ति मरने के बाद आत्म तत्व कोई है अथवा नहीं इस विषय में संदेह इसका एक उपदेश करने के लिए वक्तव्य आपके जैसे कौन मिलेगा अन्य न लभ्य ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे मृत्यु के देवता आप है मृत्यु के विषय में मृत्यु के बाद आत्म तत्व तो कैसे है क्या है नहीं है ये तो आप ही कह सकते हैं आपके जैसे वक्ता नहीं मिलेंगे विषय देवताओं को भी संदेह हुआ था और आप भी कहते सुविज्ञ नहीं और आपके वक्ता भी कोई आपसे भिन्न नहीं तो मुझे और क्या चाहिए अत्यंत सूक्ष्म विषय है जो देवताओं की संदेह था तो विषय बहुत असुविज्ञ नहीं तो कुछ विशेष अतिशय विषय उसके भी मुझे जानना चाहता हूँ और वक्ता भी उपदेश को उपदेष्टा आपके जैसे कहीं नहीं मिलेंगे तो फिर आपके पास आकर दूसरा वर क्या मानेंगे नान्य वरस्तुल्य तस्य कश्चित इसके बराबर कोई अन्य है ही नहीं एतस्य कस्य तुल्य वर अन्यो न इसके समान वर कोई दूसरा है ही नहीं देवी रत्रापि जैसे पहले कहा यमराज ने देवी रत्रापि विचिकित्सितम पुरा पुरा इसे देवी रत्रापि विचिकित्सितम किल ऐसा आपने कहा आपने से आपसे ही तो मैंने सुना कि देवताओं को भी संदेह था अत्रापि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं किले इति भवतेव न श्रुतम आपसे ही मैंने सुना आपने कहा उनको भी संदेह था देवताओं की संदेह था मतलब आपने कहा तो इसकी महिमा कितने है अवश्य जानना चाहिए जिसको देवताओं का भी संदेह था क्या इस वस्तु देवताओं में संदेह था तो इसकी बड़ी महिमा है भवतेव न श्रुतम आपसे सुना त्वम च मृत्यु हे मृत्यु त्वम भी आथ आ भी कहते हो यन न ये सुविज्ञ नहीं ऐसा भी कहते हो यद काति अस्मात् न सुविज्ञ आत त्वम च मृत्यु यथ न सुवि यत शब्द का अर्थ अबे यस्मात् के अर्थ में जो क्योंकि आप भी कहते हो सुविज्ञ नहीं आत्म तत्व को आत्थ कहते हो अतः पंडितेर उपदेश देशनीयत्वाद सुविज्ञान नहीं मतलब विशेष पंडित के द्वारा इसका उपदेश करना होगा सामान्य कोई उपदेश से क्या ज्ञान होगा जो जानने वाले तो कम है सुविज्ञान नहीं है देवताओं को भी संदेह था आप कहते सुविज्ञान नहीं तो उसका ज्ञान तो होगा उसको जो उसको ज्ञानी उपदेश करेंगे पंडितेर उपदेशनीयत्वाद ये पंडित जिनको इसका ज्ञान है वही प्रदेश कर सकते हैं इसका ज्ञान भी सुविज्ञान है तो जानने वाले भी विरल है वक्ता चास्य धर्मस्य त्वादृक् तत्तुल्य अन्य पंडितस्य न लभ्य अन्यस्यमानोपि इसके वक्ता सम्यक कथन करने वाले उपदेश करने वाले जो धर्म रूप देव है पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा उसको कोई कहने वाले वक्ता अस्य धर्मस्य वो धर्म है आत्मा आख्य धर्म त्वादृक तत्तुल्यो आपके समान आपके बराबर और पंडित क्योंकि स्वयं जो ज्ञानी नहीं है वो कैसे उपदेश करेगा इसे पंडित पंडा विवेक बुद्धि संजातास्य आत्मतत्व ज्ञान जिसको हो इसे कोई आपके जैसे बराबर न लभ्यो नहीं मिलेगा अनिश्चय भी सामान्य रूप से तो कहाँ मिलेगा अन्वेषण करने पर भी मिलना कठिन है जानश्रुति राजा ने भेजा रीको को देखने के लिए सारथी आदि जाकर के ढूंढा नगर आदि बड़े-बड़े रास्ता ढूंढा जाकर उपदेश को कहा हाँ, नहीं मिला तो जानश्रुति राजा ने कहा जहाँ ब्रह्मज्ञानी का अन्वेषण होता है वहाँ जाओ गंगा तट पर किनारे जंगल में एकांत स्थान ढूंढो नगर में कहाँ मिलेंगे ये रत्त लेकर नगर में ढूंढ लिया बड़े-बड़े स्थान से कहाँ मिलेगी वहाँ जाओ वो जाकर कोई एकांत स्थान में देखा बैल गाड़ी है और नीचे बैठा है घर के नीचे और शरीर में खुजलाहट है बिचर्च का खुजला खुजला रहा खुजला रहा है <laughs> नीचे बैठा कपड़ा आधा पहना नहीं पहना करके थोड़ा बैठ करके नीचे पूछा अरे आप ही जा रे क्यों है हाँ डांट करके हाँ रे <laughs> अरे हाँ मैं <laughs> ये जाकर के भी मंत्री सारथी कहते हम मिल गया तो आपके जैसे वक्ता ढूंढेंगे अनुसरण करेंगे तो नहीं मिलेगा मानो मानोपि अन्वेषण के बिना तो नहीं मानो मानोपि न लभ्य अयम तो वरो निश्रेष प्राप्ति हेतु यह जो वर है निश्रेष मोक्ष प्राप्ति का साधन है आत्मज्ञान अतो नान्यो वर तुल्य अस्ति एतस्य एतस सदृश तुल्यवर नास्ति इसके समान तुल्यवर कोई है ही नहीं कश्चित अपि कुछ नहीं है क्योंकि आप जितने मानेंगे सबका फल तो अनित्य है अनित्य फल तो फलत्वाद अन्य से सर्वस्य अन्य जितने वर सबका फल अनित्य है क्या वर मांगे इसके बराबर कोई ही नहीं अन्य से सर्वस्य अनित्य फल अनित्य फल के तो कर्म जितने है जितने कर्म में अग्नि विद्या के साथ और उपासना भी है सौ का फल अनित्य है इति अभिप्राय उसका अभिप्राय इसके बराबर कोई है नहीं ऐसा कहने पर रामराज कहते हैं क्या क्या मैं दे सकता हूँ उसको शायद पता नहीं है ये सब अनित्य क्या मैं बताता हूँ कैसे फल देखो एवं मुक्तोपि पुनः प्रलोभयन उवास मृत्यु ऐसा कहने पर भी रामराज यमराज फिर लोभ प्रलोभयन साधक साधन करता है परमात्मा प्राप्ति के लिए सब छोड़कर आ जाता है और परमात्मा के साथ माया है उसको प्रलोभन से रास्ता से कहां से कहां चल जाता है थोड़ा प्रलोभन तो है ही सब रास्ता में जाते समय सब प्रकार दृश्य रहेगा जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है कहीं गंतव्य स्थान पर पहुंचना है वो चलेगा या बाएं दाएं दुकान में खड़े होकर देखेगा मैजिक कोई जादूगर जादू दिखाता है कोई वहां खड़ा हो गया जहां प्राप्त था गाड़ी पिछड़ गई विवेक क्यों ही नहीं होता है रास्ता में कोई दुकान में बिक्री करता है कोई कुछ करता है कोई जादू दिखाता है चमत्कार वहां खड़े होकर देखे देखने की इच्छा हो बहुत अच्छे हो तो भी लक्ष्य को प्राप्त करना है गाड़ी पकड़ना है तो चलो आगे गाड़ी छूट जाएगी लोभन तो प्रलोभन तो दोनों तरफ रहेगा बैठे बैठे यहाँ तो आत्म तत्व तो विचार करने के लिए सामने विषय आने की आवश्यकता नहीं बैठे बैठे के कल्पना कर लेता है मनोराज्य में कितने सुंदर विषय कल्पना कर लेता है सारा ब्रह्मांड घूमता है जाते चलते समय कुछ सुंदर दिखता है उधर-उधर खड़े होकर देखना वो तो ध्यान करने के बैठा है मन से कल्पना क्या-क्या करता रहता है इतने कल्पना करके उसमें इतने कल्पित वस्तु में सत्य तो बुद्धि मनोराज्य में है ध्यान छोड़ के ध्यान कहाँ भगवान कहाँ रहे भगवान सामने बैठ रहे तभी तो दिखेगा नहीं मनोराज्य में देख रहा है क्या क्या देख रहा है सब दृश्य दिखता है मनोराज्य करते समय इतने उसके प्रत्यक्ष हो जाता है भूल जाता है अपने को मैं ध्यान करने के लिए बैठा ये क्या चिंतन करेगा मैं बैठा हुई भूल जाएगा कभी किस प्रकार अन्य प्रकार है विभिन्न कुछ कल्पना करता है तो मनोराज्य में जैसे सत्य हो जाता है बैठ बैठ करके भी ये प्रलोभन अजय देवाह्य वस्तु इसे प्राप्त हो जाए बैठ बैठ कर मनोराज्य करते थोड़ी देर में थोड़ी देर में हट गया न वस्तु से इसे प्राप्त हो जाए तो ये प्रलोभन के कारण अधिकारी इधर-उधर हो जाता है इसलिए परमहंस हंस विवेक नित्य करके ठीक सन्मार्ग में चलना चाहिए लक्ष्य किया है उसको भूलना नहीं चाहिए थोड़े इधर-उधर देखे प्रमाद करे तो पता नहीं कहाँ से जाना था कहाँ पहुँच गया सामान्य कभी-कभी से प्रमाद हो जाता तो जो जाना चाहिए वो रास्ता नहीं रास्ता गलत रास्ता गलत रास्ता पकड़ लेते हैं इसी प्रकार ये रास्ता से हटने का तो बहुत प्रलोभन है तो यमराज भी थोड़ा प्रलोभन का प्रलोभन करते हैं और सबके साधक में ऐसा आता है प्रलोभन योगाभ्यास करते समाधि लगाने के लिए थोड़ी चमत्कार सिद्धि कुछ मिल गई उसको छोड़ करके आगे साधन छोड़ करके सिद्धि दिखाने लगे पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति इसी प्रकार किसी मार्ग में चलते साधन करते इसे कुछ प्राप्त हो जाने पर जो जो लग, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न छोड़ कर लग गया अविवेक है ना लक्ष्य को छोड़ करके इधर लग गया ए बहुत है लक्ष्य के ओर चलना चाहिए और लक्ष्य सामने दिखे हमेशा बाह्य जितने प्रलोभन होने पर भी कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं हो क्योंकि हमको वहां क्या हमारा लक्ष्य ध्यान में रहे यमराज परीक्षा करने के लिए आगे कहते हैं वाच शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीश्व बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमस्वान भूमेर महदायतनम वृणीश्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि पुत्र पौत्र लोक में पुत्र बड़ा प्रिय होता है अब पुत्र के आगे कहते पुत्र जितने प्रिय होता है उसके आगे पुत्र का जो पुत्र हो जाता है पौत्र तो और प्रिय हो जाता है पौत्र कहते जैसे कोई ब्याज के लिए रुपया देते हैं ना लाखों रुपया दिया जो ब्याज मिलता है मिलेगा दस बीस हजार मिल जाएगा और बड़ा खुश लगता है लाखों रुपया दिया है मिल गया दस बीस हजार बहुत खुश है दूसरे साल को मिल गया थोड़ा आगे फिर मूल ही चला गया <laughs> दस बीस हजार से बड़े खुश हो गया क्योंकि ब्याज है ना ऊपर से मिल गया तो ब्याज जैसे प्रिय होता है ऋण देने वाले को ऐसे गृहस्थ को पुत्र की अपेक्षा पौत्र और प्रिय हो जाता है तो कोई सोते पुत्र बड़ा हो जाए तो साधना करेंगे फिर पुत्र के विवाह होने पर एक बच्चा होने वाला है पुत्र का थोड़ा तो पौत्र को देख करके जाएंगे सन्यास तो लेंगे किंतु पौत्र को थोड़ा देख कर जाएंगे अब पौत्र को देखने पर इतने मोह होता है थोड़े उसका तो भूलना चलने चले फिर कुछ बोले तब चले जाएंगे <laughs> ऐसे हुआ है कोई वक्त अपने कहा बोले हम सब चले जाएंगे केवल और बच्चा थोड़ा हो जाए बच्चा होने के बाद क्या थोड़े से अभी छोटा है ना थोड़े बड़े हो जाए फिर थोड़ा चलना फिरना हो जाए और जो चलने फिरने पर बोलने लगा दादा दादी बोलने लगा और खुश है और मुंह बढ़ गया <laughs> तो फिर बाद में कहते थोड़ा और बड़े हो जाए फिर उसका कुछ संस्कार करा देंगे एक कुछ करने से करना वैधन आदि करते हैं चुड़ा कर्म नहीं तो फिर शादी करा देंगे बच्चे शादी करा देंगे चल जाएंगे किसका पोते के अब पोते की शादी करने पर उसका भी बच्चा होने वाला होगा तो <laughs> उसको भी थोड़ा देख लो ये <clears throat> ये लोभ तो ये पुत्र पौत्र होते प्रिय पुत्र के अपेक्षा पौत्र के पुत्र पौत्रान वृणिश पुत्र पौत्र बहुत मांग लो एक नहीं बहुवचन जितने पुत्र और पौत्र मांग लो अच्छा पुत्र पौत्र मिल जाए किंतु कम आयु वाला हो किसके किसके पुत्र नहीं होता पुत्र तो हो गया बड़ा खुश है किंतु मर जाए तो कितने दुख होता है इसे यमराज कहते नहीं ऐसे नहीं शतायुष सतम आयुर ये शांते शतायुष से वर, सौ वर्ष जिसके आयु है भी पुरुष मनुष्य के आयु सौ वर्ष ज्योतिष शास्त्र में तो दो प्रकार गणना है अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी अष्टोत्तर मतलब एक से आठ आष्ट उत्तरम यस्मा सत सता तथा अष्टोत्तर शतम एक से आठ और कि विंशोत्तर में एक से बीस नवग्रह में किसी किसी ग्रह का परिमा सब समय महादशा का रवि षडदश चंद्र से भूमि जस्य च सप्तकम रवि महादशा 6 वर्ष है दस चंद्र महादशा 10 है इसी प्रकार ये सब जो ग्रह है के दशा है केतु को नहीं मिलाएंगे तो आठ ग्रह लेंगे तो एक साठ वर्ष पूरा होगा सारे ग्रहों के महादशा परिमाण हिसाब करेंगे एक सौ बीस होगा और केतु छोड़ दें तो एक सौ आठ होगा तो ये अन्य तो भेद कुछ है तो एक सौ आठ वर्ष आयु कहीं एक सौ बीस वर्ष आयु ये हो सकता है ज्योतिष शास्त्र में है दो मत के अनुसार 108 वाले अष्टोत्तरी आजकल जो जन्म पत्रिका जन्म कुंडली बनाते हैं विंशोत्तरी के हिसाब से बनाते हैं यद्यपि अष्टोत्तरी का भी है कृष्ण पक्ष में कहीं हो तो मतभेद है कहीं अष्टोत्तरी कहीं विंशोत्तरी होना चाहिए किंतु ज़्यादातर विंशोत्तरी बनाते हैं तो 120 किंतु श्रुति में आया वे पुरुष सौ साल आयु हुई इसे यहाँ शतायुष सौ साल आयु वाले पुत्र पौत्र को मांग लो वृणिष्य बहुत जितने पुत्र पुत्र सौ सौ साल बचेंगे ऐसे मान लो क्योंकि पुत्र पुत्र मर जाने पर बड़ा कष्ट होता है सो साल बचने वाले दीर्घ जीवी पुत्र पुत्र मान लो और बहुन पशुन हस्ति हिरण्य अवसान बहुत पशु धन पहले पशु रूप धन है गो हस्ती आदि बहुत पशु मांग लो हस्ति हिरण्यम अश्वान हस्ति सहित हिरण्यम हस्ति हिरण्यम हाथी सुवर्ण अश्वान सबका वृणित मांग लो हस्ती भी सहिरण्यम हस्ती के साथ सोना और अश्व भूमेर आयतनम वृणिस्य और भूमि में भूमि का आयतनम जमीन भी बहुत मांग लो भूमंडल खाली जमीन है भूमंडल भूमि का मंडल राज्य बहुत राज्य मांग लो वो सब के राज्य का तुम अधिपति हो जाओ राजा मन महद आयतनम बड़े मंडल मांग लो भूमि का राज्य और इतने सब मान लेने के बाद भी स्वयं यदि मर जाए तो क्या होगा इसलिए उसके साथ स्वयं से जीव शरद याव इच्छसी पुत्र पौत्र सौ सौ साल बचेंगे और पिता मर जाएगा स्वयं मर गया तो क्या होगा ये जो सौ साल बचेगा तो पुत्र पुत्र सौ साल बचे देख सकता है पौत्र सौ साल बचेगा देखेगा पिता का सौ साल उम्र होगा तो देखेगा पिता को यदि सौ साल उम्र होगा पौत्र सौ साल बचता है करो वो देखेगा वो तो पौत्र होने के पहले मर जाएगा इसलिए कहते तुम देखना चाहते हो सौ साल साल बचने वाले पुत्र पुत्र को तो स्वयं से जीव यावद सरद्विच्छसि जितने वर्ष चाहते हो जीवित रहो इतने वर्ष तक जीवित रहो जितने चाहते हो हजार हो जितने तुम चाहते हो जीवित रहो ये बार मांग लो क्योंकि मरने का तो इसका तो काम मेरा ही है किसको कोई मरना नहीं मरना तो चाहो जितने चाहो हम तो तुमको दे देंगे सतायुष शतम वर्षाणि आयुष ये शाम ते सतायुष शतम वर्षाणि शतशत देखोचन होता है 100 वर्ष आयुंसी ये शाम आयु आयु से आयुंसी 100 वर्ष जिनकी आयु हो ऐसे ही तान सतायुष पुत्र पौत्रान वृणीसो पुत्र पौत्र मागल पुत्र और पुत्र के पुत्र पौत्र किंच गवादि लक्षणान बहुन पशुन गुवादि स्वरूप बहुत पशु को मागलो हस्ति हिरण्यम हस्ति च हिरण्यम च हस्ति हिरण्यम हाथी सोना जितने माग मागलो अश्वांश और घोड़े भी किंच भूमे है महदायतनम पृथ्व्या महत का तो विस्तीर्ण आयतनम विस्तीर्ण बड़े आयतन आश्रय भूमिका मंडल साम्राज्यम वृणीस्व मंडल साम्राज्यम चत्वारिंशद योजनम मिते देशे साम्राज्य कर्म साम्राज्यम 40 योजन योजन का कितने चार कोश योजन का चार कोश दो कोश चार कोश 40 योजना बहुत बड़ा मंडल है राज्य बड़ा मंडल उसके साथ जो सम्राट होता उसको कहते मंडलेश्वर राज्य अरे मंडली साधुओं की मंडली मंडली के बड़े को मंडलीश्वर मंडल शब्द भी साधुओं का समूह तो मंडलेश्वर भी गलत नहीं है तो मंडलीश्वर पहले कहते थे मंडलेश्वर साम्राज्य बहुत राज्य तो मांग लो भूमेर महत आयतनम बड़ा राज्य मान लो तो उसका समाट तो हो जाओ किंच सर्वमपेतद अनर्थकम स्वयं चेद अल्पायुरित्यतः ये सब मांग लेने पर भी सर्वमेतद अनर्थकम लोग धन इकट्ठी करते रहते हैं धन मकान करते करते बहुत इकट्ठी करने पर मरना पड़ेगा या नहीं सब इकट्ठी करने पर रह नहीं पाया मर गया कोई साधु सोचा साधने कि हम थोड़ा मकान बना देंगे अच्छी तरह से साधन करेंगे ऐसे बैठ कर पूरा डट कर साधन करें लेकिन थोड़ा व्यवस्था कर लें व्यवस्था करें कमरा एक पहले तो एक कमरा से काम चल जाएगा बाद में एक कमरा से किसी कोई आएगा साथ में कोई कभी चला बनेगा तो भी तो रहेगा उसके लिए कमरा चाहिए फिर जो भक्त लोग आएंगे तो वो भी दो चार दिन रहेंगे तो उनके लिए कमरा चाहिए फिर एक कमरा उनके लिए बना तीन कमरा हो गई तो एक में भक्त नहीं भक्त अधिक आ गए तो दो चार पांच फिर चार तरफ एक फिर कुछ पौधा जगह ये इसे करते करते वो पारा सारा जीवन भजन करने के लिए कुटिया और कुटिया के लिए सारा जीवन अर्पण हो जाता है और सब करते समय सोता है साधना करेंगे उसके पहले ही खत्म साधना करेंगे साधना करेंगे उसको पीछे रखता है उसके पहले खत्म हो गया इसलिए साधनोति परम कार्यम जो उत्कृष्ट कार्य है पहले परेशान कार्यम परम कार्यम पर कार्य और परम यत कार्यम पर कार्य परम च तत्कार्य जो निरत से सबसे बड़ा काम उसको सिद्ध करना चाहिए सबसे बड़ा काम है ये परमात्मा प्राप्ति ज्ञान प्राप्त करना उसको पहले करना चाहिए उसको पीछे रह करके गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय मुख्य कार्य पहले करना चाहिए व्याकरण में भी सिखाते हैं गौणों को पीछे रखना चाहिए और गौण को पहले करेंगे मुख्य को पीछे रखेंगे रावण ने की इच्छा थी स्वर्ग को सीढ़ी बनाने के लिए इतने कर्म क्या सीढ़ी बनाएंगे सो चढ़ के स्वर्ग पहुंच जाएंगे और देवता लोग भी उसके अधीन में थे किंतु करें करेंगे सोचते सोचते नहीं कर पाया ऐसे उदाहरण देते हैं जो श्रेष्ठ कार्य उसको पहले करना चाहिए और नहीं तो सब कुछ इकट्ठी करे स्वयं मर गया तो क्या होगा सर्वम पेत धनर्थकम स्वयं से दल पाएगा पुत्र पौत्र राज्य हस्ती हिरण्य पशु धन समय सब इकट्ठे कर दिया स्वयं जी अल्पायु तो क्या होगा इसलिए कहते स्वयं से जीव सरदो याव इच्छा तो हम जीव जीव का तो जीव प्राण धारणे प्राण धारण करो धारय शरीरम शरीर धारण करने कैसे समग्र इंद्रिय कलापम इंद्रिय युक्त होकर के इंद्रिय प्राण धारण करो इंद्रिय सब भी पुष्ट रहे शरीर धारण करे आंख को दिखेगा नहीं काने सुनाई में पड़ेगा दांत गिर गए नारियल नारियल नहीं खा सकता है ऐसे शरीर से क्या प्रयोजन और थोड़ा उन्हें डॉक्टर के नमक नहीं खाओ चीनी नहीं खाओ घी नहीं खाओ ये शरीर से क्या मिलेगा इसे समग्र इंद्रिय कलापम समग्रम इंद्रिय कलापम यस्य इंद्रिय समुदाय समग्रम मतलब सब इंद्रिय पुष्ट इंद्रिय के साथ इसलिए प्रार्थना करता आप्यायंतु ममांगानि वाक प्राण प्रचक्षु सत्र इंद्रियानि पहले प्रार्थना करते किस लिए अंग पुष्ट हो तो हम श्रवण करें मनन करें चिंतन करें शांति मंत्र बोलते हैं नहीं तो इसे सब इंद्रिय समग्र हो ऐसे सर प्राण धारण करो अतः जीवन शरीर धारण करो इंद्रिय भी पुष्ट रहे भोग करो बहुत शरदो वर्षाणी यावद इच्छा से जीवित हो जब जितने जिनाता था चाहते हो जी जाओ मांग लो एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीस्वचिवित्तं चिरजीविकां च महाभौमौ नचिकेत समेधि कामानां त्व कामानां त्वा कामभाजं करोमि एतत्तुल्यम यदि वरम मन्यसे वृणीस्वम वृणीस्व वित्तम चिरे जीविकांश इसके समान इसके समान जो मैं वर तुमको दिया इसके समान और कोई वर तुम चाहते हो तो उसको भी मांग लो यदि मनने से वरम कोई मर मानते हो वृणिष वित्तम धन भी जितने मांगना है मांग लो चिरजीविकांश चिरजीवित तुम तो चिर दीर्घ काल जीवन महाभूमो नचिकेत तम अधि महाभूमि में तुम रहो प्राप्त करो अधिकात अशुभ अस से तुम भव महा राज्य में तुम बने रहो और कामानाम कामभाजम त्वाम करोमि जो काम भाज जो काम्य वस्तु चाहने वाले मनुष्य बहुत चाहता है मिलता नहीं सब फिर भी चाहता रहता है नहीं मिलता है फिर भी चाहता रहता है जैसे मांगने वाले मांगते रहते हैं नहीं देने वाले बहुत ही कहीं एक स्थान में कोई दे दिया जितने लोग मांगते हैं कहीं गाड़ी के पास आकर मांगने वाले बहुत कहीं गाड़ी रुक गई नगर में आकर मांगते हैं बहुत बहुत लोग नहीं देते फिर उन मांगना छोड़ देते फिर मांगते धिक्कार कोई करे कुछ भी करे उनको तो धिक्कार भी मिले कोई कुछ कहे कोई एक दे दिया कुछ दे दिया वही चाहते हैं मांगते हैं जितने भी चाहते हैं नहीं मिलने पर भी जिस प्रकार मांगते हैं कामी पुरुष इस प्रकार कामना करने वाले बहुत चाहता है मिल जाए मिल जाए मिल जाए नहीं होता है देखता है बहुत चाहता है कुछ लाभ नहीं तो फिर दूसरे दिन छोड़ देता है फिर कहता है और मिल जाए और मिल जाए बड़ा सारा जीवन ये वस्तु मिल जाए वो मिल जाए वह मिल जाए वह मिल जाए सोते सोते सोते सोते समाप्त हो जाते स्वयं कामना नहीं जाती स्वयं चल जाता है स्वयं समाप्त होते कालो न यात स्वयं में व्यात जाता भय में व्यात काल तो नहीं जाता है स्वयं ही समाप्त हो जाता है <laughs> तपो न तप्तम भय में तपता तप नहीं कर पाया स्वयं भी कष्ट प्राप्त कष्ट भोगते हैं तप नहीं कर पाते हैं और क्या है हाँ भोगान भुगता है भय में भोग का भोग हम नहीं कर भोग काम्य वस्तु का भोग नहीं कर सकते कहीं हमारे भोग सब ने कर लिया और तृष्णा न जिन्ना तृष्णा जिन्न नहीं होती वय में भी जिन्ना स्वयं तो जिन्न बूढ़े हो गए तृष्णा तो बूढ़ा नहीं होती बूढ़ी नहीं होती तृष्णा तो प्रबल होती रहती है अत्यधिक उम्र होने पर तृष्णा कम हो जाती है तृष्णा बहुत ही इसलिए कामानम तो काम भाजे जितने चाहते हो तुम उसमें दे देता इच्छा करो भोग करो आगे भी कहेंगे चिरजीवित तो है और भोग भी करो और देखा अभी आगे देखा दें क्या क्या मैं देना चाहता तो हूं देखो करके खाली दूंगा दूंगा कौन से कोई इतने लोभ नहीं होता है सामने ला कर ले वो सब सामने दिखा दें ले लो जितने चाहे ले लो तो कामानम काम भाजम तुम करते हो जितने चाहते हो वो कर लो ले लो एतत्तुल्यम एतत्तुल्य का तो एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यमपि एतत्तुल्य का तत्व ज्ञान के तुल्य नहीं जो मैं पहले कहा <clears throat> यथोपदिष्टेन सतायु पुत्र पुत्र आदि का इसके बराबर सदृश यदि मन्यते उसके समान कोई मानते हो तो तुल्य का सदृशम अन्यम अपि अन्यम अपि अन्य भी इसके बराबर ले लो अर्थात इसको छोड़ करके इसको देंगे अर्थात इसके तुल्य और मांग लो इसको तुल्य मांग लो तो इसको नहीं देंगे नहीं इसको ले लो अथवा इसके तुल्य मांग लो इसको छोड़ कर तुल्य मांगे तो ये भी छूट गया इसे कहते ना इसको भी ले लो उसके बाद एत तुल्यम अपि दे तो भगवान भाष्य का एत सदृशम अन्यम अपि तो तुल्यम यदि मन्य से वरम इसके समान तुल्य मांग तो, तो मांग लो अतः इसको छोड़ कर कहेंगे तो फिर इतने लोभ नहीं होगा ऐसे कहते तो अपि अपि का था पुत्र आदि समुचय करने पुत्र पुत्र आदि लो इसके समान और भी लो इसको तो लो उसके अपि देने से अन्यम अपि अन्य भी यदि मन्य से वरम तम अपि वृण से उसको भी ले लो अपि देने से जो पूर्व वर दिया था वो तो हो गया पूर्व वर को समुचय करने के लिए अपि दिया इसको भी अन्यमपि अन्य यो पुत्र आदि है उससे भिन्न भी अन्य भी ताम अपि वृणिश इसको भी ब्रण कर लो इसको तो ले लो उससे भी अधिक ले लो और किंच वित्तम टीका में दिया एकैकम पुत्रधनादिना वरत्वेन उपन्यस्य समुचितम इदानीम उपन्यस्यति पुत्र धन हस्ती हिरण्य आदि एक एक कह करके वरुण से कह करके अभी समुचितम इदानीम पूरा पूरा सब अभी कहते पूरा सब जितने नाम लिया और जो चाहते हो सब ले लो इदानीम किंच वित्तम किंच ये भी ले लो वित्तम धन है धन है थोड़े नहीं वित्तम है वृणिष वित्तम चिरजीविकांच धन तो जिसके पास सौ रुपया भी धनी है दस रुपया तो धनी है एक बार भोजन करने के बराबर नहीं होगा दस रुपया है तो भी धनी है ना नहीं धनमस्य अतिथि इसलिए भूम निंदा भूम अधिक धन हो तो धनी कहा जाएगा सामान्य धन से धनी नहीं इसलिए भूत वित्तम तो प्रभुतम वित्तम हिरण्य रत्न आदि प्रभुतम तो बहुत है प्रचुर प्रचुर जितने मांग लो थोड़े नहीं प्रभुतम वित्तम हिरण्य रत्न आदि और चिरजीविकाम च सह वित्तेन वृणीसो चिरजीव जीवन धन के साथ चिरम जीवन चिरजीवन चिरजीवन है दीर्घ काल रत्न के साथ सब सवित्तेन एक एक नहीं समुचे इनको भी इसको सब चिरजीविकांच नहीं तो विकल्प हो जाएगा धन भी मांग लो नहीं तो चिरजीवन मांग लो क्या चाहिए <laughs> दोनों <laughs> ये नचिकेता कहते दोनों ही नहीं चाहिए चाहने वाला तो दोनों चाहेगा विकल्प करेगा तो क्या करेगा धन ले लो अथवा चिरजीवन इसलिए यहाँ कहते सह वित्तन धन के साथ चिरजीवन मांग लो किम बहुना महाभूम महत्याम भूमो राजा भव तो इतने नहीं महाभूमि में बड़े राज्य का राजा भी हो जाओ नहीं तो धन समृद्धि बहुत हो तो राजा से भय है धनी लोग भी राजा से भय करते हैं राजा के अधीन रहना पड़ता है तो जितने धन संपन्न होने पर भी किसके अधीन होने पर भय है इसे कहते कि बहुना महाभूमौ महत आयतनम महाभूमौ नचिकेतस्तम यदि तुम तुम भव महाभूमि में तुम हो जाओ हो जाओ तो राजा महत्याम भूमो राजा नचिकेत त्वम यदि यदि का क्या थे क्या धातु है धी कहां से आ गया उजल भी हृदय अर्श धातु का अ कहां गया घसो धाव अभ्यास लोप घसो दौ अभ्यास धाव अभ्यास लोपश्च घसो रेत एत हौ और अभ्यास हैं दूर क्या कहता क्या बोला दूर क्या कहा गुरु ज्योत्यादि का तो धावा अभ्यास गु है ना हाँ घू के लिए ज्योत्यादि नहीं घसोर धावा अभ्यास पश्च घु संज्ञा को तो हो जाएगा अभ्यास लोप और में अभ्यास नहीं यदा अभ्यास तो भी क्या था भव भूम राजा नचिकेतस तम एधि भव किंच अन्यथ कामानाम दिव्यानाम च अच्छा टीका में दे दिया असभुविति धातुर लोड मध्यम पुरुष एकवचनांतस्य निपात धीति तत भवेति व्याख्यातम असभुवि धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनांत है एधि त एकवचनांत निपात निपात कोई अव्यय नहीं है और निपातन जो कहेंगे सूत्र के बिना प्रातिसिक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप का निर्देश निपात ये भी नहीं है ये निपातन यहाँ दस नंबर टिप्पणी दिया प्रयोग निपात का तो प्रयोग प्रति यहाँ अथवा निपात के स्थान पर निपाठ इति पाठ निपाठ पठो पाठे पाठ के लिए निपाठ शब्द भी प्रयोग होता है तसे निपाठ तो उसका पाठ उसका निपात का अर्थ अव्यय नहीं अथवा निपातन नहीं है उसका प्रयोग यदि अस धातु के यदि थी ततो भवेति व्याख्यातम इसलिए यदि का था भव किंच अन्यत कामानाम दिव्याना मानुषा काम भाजम करोमि काम्य काम्यन्ते कामा कर्मणि घय करें तो कामना का विषय होगा भावे में घय करें तो इच्छा काम हो जाएगा कामानाम यहाँ किस में गए करेंगे कर्मणि काम्यानाम के जो कामना का विषय दिव्यानाम मनुष्याणाम च दो प्रकार है जो मनुष्य लोक में प्राप्त होगा मानुष मानुष और दिव्य होता है दिव्य भव स्वर्ग में जो प्राप्त है जो मनुष्य लोक में प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसा जो स्वर्ग में प्राप्य वो दिव्य कहते हैं दिव्य भवा दिव्या दिव्य स्वर्ग में प्राप्त योग्य मर्त्य में प्राप्त योग्य जो काम है उसको त्वाम त्वा काम भाजम करमि काम भागिनम काम भोग्य की प्राप्ति करने वाले काम आरंभ करमी जो चाहो सो प्राप्त कर इस लोक में पर स्वर्ग में जो सुख अवसर आदि सुख अवसर आदि स्वर्ग में या नहीं है उनको भी ले लो क्योंकि सत्य संकल्प ही अहम देव सत्य संकल्प यस्य सत्य संकल्प है मनुष्य संकल्प करता है सब नहीं होता है कुछ होता है कुछ नहीं होता है तो भी संकल्प छोड़ता नहीं कभी कभी सोचते समय जानता है नहीं होने वाला फिर सोता हो जाता तो अच्छा होता कितने लोग बड़े राजनीति में थोड़ा प्रधानमंत्री हम बन जाए कितना अच्छा है राष्ट्रपति बन जाए कोई कहीं राजनीति करने वाले क्या साधु बनने वाले भी सोते हैं <laughs> कहीं राष्ट्रपति बन जाए तो कितना अच्छा है मंडलेश्वर बन जाए तो कितना अच्छा है <laughs> कोई कोई ऐसे संकल्प विकल्प ये मन का स्वरूप है योग वासिष्ठ में आया मन का मनोनाश करने के लिए संकल्प का त्याग मन में जो संकल्प होता है एक तो संकल्प शोभन अध्यास इदम शोभनम इदम शोभनम बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ये संकल्प होने से संकल्प भगवान उसे उत्पन्न होती इच्छा और एक संकल्प ये करूंगा ये करूंगा ऐसा करूंगा सोचता रहता है सारे संकल्प विकल्प छोड़ दे विषय में मिथ्यात्व तो दृढ़ निश्चय कर ले मिथ्यात्व तो बुद्धि हो जाए तो यह चाहे वह चाहे ये अच्छा हुआ अच्छा कुछ नहीं स्वप्न प्रपंच के समान मिथ्या झूठा है और चाहने पर मिलता है इसलिए जरूरी नहीं प्रारब्ध में नहीं तो नहीं मिलेगा अरे मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा मिल भी जाए तो सब वस्तु का भोग बहुत बार करके भी संतोष नहीं हुआ इस जन्म में कुछ भोग कर ले इकट्ठी कर ले तो क्या होगा वस्तु कोई प्राप्त हो जाए तो क्षणिक नष्ट हो जाएगा नहीं तो धन संपत्ति एक रहे तो स्वयं सर्व चला जाएगा इसलिए ऐसे विचार करके सब इच्छा छोड़ करना चाहिए जितनी जितनी इच्छा है ये सब प्रतिबंधिका है ये कामना वासना है संकल्पात्मक मन को नाश करने के लिए संकल्प विकल्प छोड़ देना कुछ नहीं संकल्प करना सामान्य छोटा सा भी थोड़ा सा भी मन में रखे कुछ इच्छा थोड़ी सी रखे उसके पीछे बहुत लौकिक भी कोई कर्म करने के लिए सोचे कभी कहाँ जाने के लिए विचार करे तो उसके लिए कितने उसके पीछे सोचना पड़ता है सोचते सोचते सोचते इतने बढ़ती जाती इच्छा ये सत्य संकल्प नहीं मनुष्य तो संकल्प करता है होता कुछ नहीं किंतु ये परमात्मा और ये अधिकारी पुरुष यमराज वो सामान्य नहीं है ज्ञानी भी है कुछ कर्म उपासना के कारण अधिकार को प्राप्त किया हुआ हमेशा यमराज पद पर इंद्र पद जो रहते हमेशा ज्ञानी नहीं है इंद्र को एक ही व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है कभी इंद्र पद में ज्ञानी भी होते हैं कभी इंद्र पद में अज्ञानी भी होते हैं एक इंद्र तो प्रजापति के पास गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके बाद ज्ञान हुआ एक से एक साल के बाद एक इंद्र पद में स्थित प्रतरदन को उपदेश किया इसी प्रकार यमराज भी कभी ज्ञानी कभी अज्ञानी हो सकते हैं तो इसे सत्य संकल्प ज्ञानी होने से भी उनको इसे परमात्मा नियुक्त करते हैं कुछ क्योंकि इस कर्म करने वाले जीव मनुष्य जो जीव आज है वही कभी अमराज इंद्र भी बन जाता है किंतु ऐसे ज्ञान उनको नहीं होगा इतने प्राणियों को जो कर्म फल देने वाले यातना देते हैं वो पाप लगेगा तो कितने पाप लग जाएगा यद्यपि शास्त्र में आया देवताओं को पुण्य पाप नहीं होता है तो भी इतने पाप कर्म करने के लिए पाप को पार कर सकते ज्ञानी होने पर ऐसे ज्ञानी को ही अधिकार देते हैं कभी उपासना पहले करें तो परमात्मा प्रीत होकर के उसको अधिकार बनाते हैं इसलिए कहते सत्य संकल्प ही अहम देव मैं देव सत्य संकल्प हूँ इसे जो कामना चाहत हो ले लो करके यमराज प्रलोभन करते तब आगे जब फिर और कहेंगे आगे दिखाएंगे फिर जब नचिकेता ये नहीं चाहे करके सब छोड़ेगा तभी ज्ञान का उपदेश तभी उपदेश फलप्रद होता है तब हमेशा ही समझे मन में कोई इच्छा है तो श्रवण करते समय अभ्यास करते समय भी इच्छाओं का भी त्याग करने का प्रयास करे तभी श्रवण जन्य ज्ञान प्राप्त होता है इच्छा सो प्रतिबंधी का है ओम सहनावतु